एनोशो टॉक एक एक कदम नंबर सिक्स प्रति निग्रह या परिवार नियोजन का कुछ इसके पहले दो तीन बातें आपसे कहना चाहूंगा पहली बात तो ये कहना चाहूं कि आदमी एक ऐसा जानवर है जो इतिहास से कुछ भी सीखता नहीं इतिहास लिखता है इतिहास बनाता है लेकिन इतिहास से कुछ सीखता नहीं और ये इसलिए सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इतिहास की सारी खोजों ने जो सबसे बड़ी बात प्रमाणित की है वो ये कि इस पृथ्वी पर बहुत से प्राणियों की जातियां अपने को बढ़ा के पूरी तरह नष्ट हो गई इस जमीन पर बहुत शक्तिशाली पशुओं का निवास था लेकिन वे अपने को बढ़ा के नष्ट हो गए आज से पांच लाख वर्ष पहले और जो मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कहता हूं जमीन पर हाथी से भी बड़ी छिपकलियां थी अब तो आपके घर में जो छिपकली बची है वही उसका एकमात्र वंशज है इतना शक्तिशाली जानवर था उसकी अस्थियां तो उपलब्ध हो गई है वो सारी पृथ्वी पर फैल गया था अचानक विदा कैसे हो गया उसने इतने बच्चे पैदा कर लिए इतनी संख्या बढ़ा ली कि जमीन उसके रहने को उसको बसाने को असमर्थ हो गई किसी युद्ध में वो प्राणी नहीं मारा कोई एटम बम उस पर नहीं गिरा भीतर से ही उसकी संख्या का एक्सप्लोजन उसकी मृत्यु बन गई ऐसे और सैकड़ों प्राणी इस पृथ्वी पर रहे हैं और अपने को बढ़ा के ही समाप्त हो गए मनुष्य जाति फिर उस बिंदु के करीब आ रही है जहां वो अपने को बढ़ा के समाप्त हो सकती बुद्ध के जमाने में इस देश की आबादी दो करोड़ थी लोग अगर थोड़े खुशहाल थे तो कोई सतयोग के कारण नहीं जमीन थी ज्यादा लोग थे कम अतीत की जो हम स्मृतियां लाए हैं खुशहाली की वो खुशहाली की स्मृतियां नहीं वे स्मृतियां हैं जमीन के ज्यादा होने की लोगों के कम होने की भोजन ज्यादा था लोग कम थे एक खुशहाली थी सारी मनुष्य जाति की संख्या और अगर हम 2000 साल पीछे चले जाएं बुद्ध से आज से पांच हजार साल पहले सारी पृथ्वी की संख्या ही दो करोड़ आज पृथ्वी की संख्या साढ़े तीन अरब से ऊपर है साढ़े तीन सौ करोड़ से ऊपर है पृथ्वी उतनी ही है संख्या साढ़े तीन सौ करोड़ से ऊपर है और हम प्रतिदिन उस संख्या को बढ़ा रहे हैं संख्या हम इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि अंदाजन डेढ़ करोड़ डेढ़ लाख लोग रोज बढ़ जाते हैं जितनी देर में यहां घंटे भर बात करूंगा उतनी देर मनुष्यता शांत नहीं बैठी रहेगी उस घंटे भर में हजारों लोग बढ़ चुके होंगे ये सदी पूरे होते होते अगर दुर्भाग्य से आदमी को समझ ना आई तो इस सदी के पूरे होते होते यानी आज से तीस वर्ष बाद जमीन पर कोहनी हिलाने की जगह न रह जाए तब सभाएं करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी हम 24 घंटे सभाओं में होंगे ये हो नहीं पाएगा ये हो नहीं पाएगा कोई ना कोई सौभाग्य युद्ध महामारी कोई ना कोई सौभाग्य मैं कह रहा हूं इसे होने नहीं देगा लेकिन अगर ये महामारी और युद्ध से हुआ तो मनुष्य की बुद्धि पर बड़ा कलंक लग जाएगा जिन सिनसार की मैंने बात की जिन छिपकलियों की बात की जो हाथियों से बड़ी थी और अब नहीं है उनके पास कोई बुद्धि ना थी शरीर बहुत बड़ा था वे कोई उपाय न कर सके वे कुछ सोच न सके वे मर गए हम सदा से ऐसा सोचते रहे हैं कि आदमी सोचने वाला प्राणी है हालांकि आदमी सबूत नहीं देता इस बात के और इधर 50 सालों से आदमी को जितनी समझने की कोशिश की गई है उतना ही पुराना विश्वास कमजोर हुआ है वो जो रैशनल बीइंग का ख्याल था वो कमजोर हुआ है आदमी भी विचारवान प्राणी नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि वो भी जो कर रहा है अत्यंत विचारवान है और सबसे बड़ी विचारहीनता जो हम कर सकते हैं आज वो संख्या को बढ़ाए जाने की इस समय वो आदमी उतना बुरा नहीं जो किसी की हत्या कर देता है उतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है बल्कि कौन जाने वो आदमी कुछ अच्छा ही काम कर रहा है मनुष्य के भविष्य को देख देख नहीं कहता कि कोई हत्या करे कोई हत्यारे को हत्या करने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन हत्या अब उतना बड़ा अपराध नहीं जितने एक नए बच्चे को जन्म देना बड़ा अपराध क्योंकि हत्या से एक आदमी मरेगा और एक बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया अगर जारी रहती तो पूरी मनुष्यता भी मर सकती है ये जो संभावना बनी कि इतनी संख्या हो जाए ये संभावना मनुष्य की अपनी खोजों का परिणाम इथोपिया में लोग बहुत सी बीमारियों से मरते हैं जो बीमारियां दूसरे मुल्कों में समाप्त हो गई इथोपिया का सम्राट हेल्सियासी अमेरिका से एक छोटा सा आयोग बुलाया डॉक्टरों का जांच पड़ताल के लिए इथोपिया में कि वहां की बीमारियों को कैसे रोका जा सके उनने जांच पड़ताल की और रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में लिखा कि इथोपिया के लोग जो पानी पीते हैं वो बहुत ही संक्रामक कीटाणुओं से भरा हुआ है और इथोपिया में लोग सड़क के किनारे जो गड्ढों में पानी भर जाता है वर्षा का तो उसको भी पीने के काम में ले आते हैं उसमें जानवर स्नान भी करते रहते हैं पीते भी रहते हैं और लोग भी उसको पी लेते हैं उस कमीशन ने कहा कि अगर शुद्ध पानी पिलाने की चिंता की जाए तो इथोपिया की बहुत सी बीमारियां विदा हो सकती हैं सम्राट ने वो कमीशन के आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे रख के कहा कि आपकी खोज के लिए धन्यवाद लेकिन ये काम मैं कभी करूंगा नहीं आयोग ने कहा आप क्या कह रहे हैं लोग मर रहे हैं उस सम्राट ने कहा कि पहले मैं उन्हें बचाने का इंतजाम करूंगा और कल फिर उन्हें समझाने जाऊं कि बच्चे पैदा मत करो ये झंझट दोहरी हो जाएगी इधर मैं बचाऊं उनको बीमारी से और उधर बच्चे बढ़ेंगे और कल फिर जगह जगह लिखना पड़े कम बच्चे होते हैं अच्छे वो सबकी पंचायत में मैं न पढ़ूंगा वो अपने आप ही कम हो जाए कठोर लगती है इथोपिया के सम्राट की बात लेकिन हम सबको देख के ऐसा लगता है कि शायद वो आदमी ठीक ही कहता है आदमी ने मृत्यु दर कम कर दी और अनुपात बिगाड़ दिया आज से डेढ़ सौ साल पहले दो सौ साल पहले दस बच्चे पैदा होते तो नौ बच्चों के मरने की संभावना थी आज दस बच्चे पैदा होते हैं तो नौ के बचने की संभावना हो गई और वो जो एक मर रहा है वो भी हमारी कुछ नासमझी से मर रहा है नहीं तो उसको भी मरने की जरूरत नहीं और आज से 200 साल पहले 10 बच्चों में वो जो एक बच जाता था वो परमात्मा की कृपा से बचता था हमारी समझदारी से नहीं हमारी समझदारी से तो नौ मरते थे तो एक एक आदमी 20-25 बच्चे भी पैदा करता था क्योंकि 20-25 बच्चे पैदा करके भी दो बच्चे बच जाएं तो बहुत था आदत पुरानी है 20-25 बच्चे पैदा हम अभी भी करना चाहें लेकिन अब 20-25 बच्चे ही बच जाते मनुष्य ने मृत्यु दर पर रोक लगा दी है बीमारी पर रोक लगा दी है आज से पांच हजार वर्ष पुरानी जितनी कब्रें मिली हैं उनमें जो हड्डियां मिली हैं उनके निरीक्षण की खबर बड़ी अद्भुत है वो खबर यह है कि आज से पांच हजार साल पहले पच्चीस वर्ष सबसे बड़ी उम्र थी पच्चीस वर्ष से पुरानी हड्डी कोई भी नहीं पच्चीस साल की उम्र पच्चीस साल की उम्र आखिरी उम्र रही हो आज उम्र कई मुल्कों में सत्तर अस्सी पचासी के बिंदु को छू गई रूस में आज हजारों ऐसे लोग हैं जो डेढ़ सौ वर्ष के करीब या पार कर गए और जितनी हमारी वैज्ञानिक समझ बढ़ी है उसकी संभावना बढ़ती जाती है कि हम चाहें तो आदमी की उम्र को अंतहीन लंबा कर सकते हैं ये हमारी संभावना बढ़ गई है विज्ञान ने मौत को पीछे हटा दिया लेकिन जन्म की जो पैदा करने की हमारी आदत है वो अवैज्ञानिक वो उन दिनों की है जब विज्ञान नहीं था प्रकृति जो है भूल चूक ना हो जाए इसलिए बहुत अबंडेंस में प्रयोग करती बहुत अति में प्रयोग करती जहां एक गोली मारने से काम चल जाए वहां प्रकृति हजार गोली मारती क्योंकि अंधा खेल है हजार में एक लग जाए तो बहुत आदमी निशानेबाज हो गया वो एक ही गोली में मार सकता है लेकिन आदत उसकी पुरानी प्रकृति के अबंडेंस को समझना बहुत जरूरी है एक बीज आप लगाते हैं हजार लाख बीज हो जाते हैं ये इस बात की कोशिश है कि लाख बीज में कम से कम एक तो फिर पौधा बन सकेगा एक पुरुष अपनी साधारण स्वास्थ्य की जिंदगी में चालीस चार हजार संभोग कर सकता है सहज चार हजार और अगर प्रत्येक संभव बच्चा बन सके तो एक एक आदमी चार चार हजार बच्चों का बाप हो सकता है लेकिन ये चार हजार नहीं हो पाता क्योंकि स्त्री की क्षमता बहुत कम वो वर्ष में एक ही बच्चे को जन्म दे सकते इसलिए जिन मुल्कों में बच्चों की ज्यादा जरूरत थी जैसे मुसलमानी मुल्कों में क्योंकि युद्ध उन्हें करना था और लड़के मर जाते इसलिए मोहम्मद ने चार चार शादियों की छूट दी पुरुष कम हो औरतें ज्यादा हो तो संख्या को कोई खतरा नहीं है क्योंकि एक पुरुष पचास स्त्रियों से बच्चे पैदा कर लेकिन अगर स्त्रियां कम हो जाएं पुरुष कितने ही हों तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्त्री की क्षमता बहुत सीमित है वो एक ही बच्चे को वर्ष में जन्म दे दे तो बहुत चार हजार मैं कह रहा हूं अगर एक एक संभोग बच्चा बन जाए तो चार हजार बच्चे एक पुरुष पैदा कर सकते लेकिन एक संभोग में जितने वीराणु जाते हैं उसमें एक करोड़ बच्चे पैदा हो एक संभोग में एक करोड़ वीराणु जाते हैं अगर इसको भी हम हिसाब में लें तो एक करोड़ गुणित चार हजार चार हजार करोड़ बच्चे एक पुरुष के व्यक्तित्व से पैदा हो एक पुरुष इतने वीरियाणु पैदा करता है अपनी सामान्य उम्र में कि इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उससे कई सौ गुना ज्यादा अभी साढ़े तीन अरब लोग हैं साढ़े तीन सौ करोड़ चार हजार करोड़ बच्चों का बाप एक आदमी बन सकता है बनता तो है तीन चार का छह सात का आठ का लेकिन प्रकृति भूल चूक न हो जाए इसलिए इंतजाम बहुत अतिरेक करती है तो हमने मृत्यु दर तो रोक ली और प्रकृति का जो अतिरेक का इंतजाम है उस अतिरेक को हम जारी रखें तो मनुष्य अपनी ही संख्या के दबाव से मार सकता है और अब तो और नई संभावनाएं खुल गई हैं वे संभावनाएं हमारी जो सामान्य सीमाएं थी उनके भी पार ले जाती जैसे आज वीर को सुरक्षित रखा जा सकता है पुराने जमाने में यह संभावना न थी आप पैदा हो रहते दुनिया में आप तो ही बाप बन सकते थे अब आपका रहना आवश्यक नहीं आप हजार साल बाद भी किसी बेटे के बाप बन सकते आपके वीराणु को सुरक्षित रखा जा सकता है अब जरूरी नहीं कि बाप मौजूद ही हो तभी बाप बने अब पोस्ट फादरहुड भी संभव है बाप मर चुका हजार साल पहले लेकिन उसका वीरवाणु सुरक्षित रह सकता है एक विशेष तापमान पर उसका वीरवाणु जिंदा रह सकता है और वो वीरवाणु कभी भी उपयोग किया जा सकता है स्त्री के भी अंडे को बचाया जा सकता है और कभी भी कोई मां बन सकती है अब मां बनने के लिए बेटे को पेट में धोना ही अनिवार्य शर्त नहीं ये सारी संभावनाएं जीवन को बचाने की बढ़ गई मौत को दूर हटाने की संभावना बढ़ गई लेकिन हमारी जो आदतें हैं हमारे जीवन के प्रति जो ढंग है वो पूर्व वैज्ञानिक स्थिति के इसलिए हम बच्चे पैदा किए चले और अब हमें कुछ ख्याल भी नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अब भी हम बैंड बाजा बजाते हैं ये बैंड बाजा उस दिन का है जब दस बच्चे पैदा होते और नौ मारते हैं और अभी उस दिन बैंड बाजा बजाने की बात थी दस बच्चे पैदा होते और एक बसता नौ मरते तो जो बच्चा बच जाता उसके लिए बैंड बाजा बसता गांव में मिठाई बटती फूल बटते झंडियां लगती स्वागत होता ये बिल्कुल स्वाभाविक था आदत हमारी वही है अब एक एक बच्चा बहुत खतरनाक है लेकिन बैंड बाजा अब भी हम बजा रहे हैं झंडियां लगा रहे एक एक आदमी को ख्याल नहीं कि स्थिति पूरी बदल गई पूरी स्थिति बदल गई है अब एक एक बच्चा जो जमीन पर कदम रख रहा है वो एक्सिलरेट कर रहा है पूरी मनुष्य जाति की मौत को तीव्रता से करीब ला रहा है ये मौत की जो बहुत अनजान अचेतन हमारे मन में तीव्र छाया पड़ रही है इस छाया के बहुत परिणाम होने शुरू हुए हैं जैसे कि बड़े नगरों में कलकत्ता है लोग सोचते हैं कि नक्सलवाद कोई कम्युनिज्म की बात है ऊपरी अर्थों में ऐसा ही दिखाई पड़ता है लेकिन जो बहुत गहरे खोजते हैं उनकी खोज यह है कि आदमी शांति में अगर रहे तो उनके बीच एक डेफिनेट स्पेस चाहिए नहीं तो शांति में नहीं रह सकते एक सुनिश्चित अवकाश चाहिए चूहों पर बहुत प्रयोग हुए हैं शेरों पर बहुत प्रयोग हुए हैं और उनने बड़े अद्भुत परिणाम दिए हैं आदमी पर प्रयोग करने की हिम्मत तो अब भी आदमी नहीं जुटा पाया नहीं तो बहुत साफ परिणाम हो जाए एक शेर को जिंदा रहने के लिए दस वर्ग मील की जगह चाहिए अगर दस वर्ग मील की जगह में दस पांच शेरों को रख दिया जाए तो उनके पागल होने की संभावना बढ़ जाती ये जान के आप हैरान होंगे कि जंगल में कोई जानवर आमतौर से पागल नहीं होता और अजायब घर में आमतौर से जानवर पागल हो जाते और अजायब घर में और जंगल में सिर्फ एक फर्क लिविंग स्पेस कम हो जाती है और बल्कि अजायब घर में जंगल की बजाय ज्यादा सुविधाएं हैं ज्यादा वैज्ञानिक भोजन ज्यादा पीछे डॉक्टर लगा है सारा इंतजाम है जो जंगल में नहीं है ना कोई डॉक्टर है ना भोजन की उचित सुविधा है जानवर को भूखा भी रहना पड़ता है लेकिन जंगल का जानवर पागल नहीं होता और अजायब घर के जानवर पागल हो जाते जब मैंने पहली दफे अजायब घरों का अध्ययन किया और मुझे पता चला कि अजायब घर में जंगल के जानवर पागल हो जाते हैं तो मुझे ख्याल हुआ कि हमने आदमी के समाज को कहीं अजायब घर तो नहीं बना दिया क्योंकि आदमी जितना पागल हो रहा उतना कोई जानवर पागल नहीं हो रहा और ये पागल का अनुपात भी जितना सघन होती जाती है संख्या वहां बढ़ता चला जाता उत, उसी अनुपात में बढ़ता चला है आज भी आदिवासी हमारी बजाय कम पागल होता है और हम भी आज बंबई की बजाय कम पागल होते हैं और बंबई भी अभी न्यूयॉर्क की बजाय कम पागल होता है आज अमेरिका में मरीजों के लिए जितने बेड हैं जितने बिस्तर हैं उसमें आधे बिस्तर मानसिक मरीजों के लिए यह अनुपात बहुत अद्भुत है पचास प्रतिशत बेड अमरीका के मानसिक मरीज के लिए हैं और प्रतिदिन पंद्रह लाख आदमी मानसिक इलाज के लिए पूछताछ कर रहे हैं असल में शरीर का डॉक्टर अमेरिका में आउट ऑफ डेट हो गया है मन का डॉक्टर आधुनिक अत्याधुनिक चिकित्सक है ये पागलपन तीव्रता से बढ़ता चला जाएगा इस कई रूपों में प्रकट होगा अब कलकत्ते में या बंबई में अगर पागलपन फूटता है और लोग बस जलाते हैं और ट्राम जलाते हैं तो राजनीतिक नेता जो बातें हमें बताता है कि कम्युनिज्म का प्रभाव है ये फला बात का प्रभाव है ये भिका बात का प्रभाव है ये अखबार के तल की बुद्धि से खोजी गई बातें जिन्होंने अखबार से ज्यादा जिंदगी में और कुछ भी नहीं सोचा और खोजा वैसे भी राजनीतिक नेता होने के लिए बुद्धि की कोई जरूरत नहीं होती बल्कि बुद्धि हो तो राजनीतिक नेता होना जरा मुश्किल हो जाता क्योंकि नेता होने के लिए अनुयायियों के पीछे चलना पड़ता है और जहां बुद्धू अनुयायी हो वहां नेता बुद्धिमान होना बहुत मुश्किल है उसे बुद्धू होना ही चाहिए निष्णात बुद्धू होना चाहिए राजनीतिक नेता कहता है कि कम्युनिज्म है फला है दिखा है ये सब ऊपरी बकवास है असली सवाल भीतर लिविंग स्पेस कम होती जा रही है सात्र ने एक छोटी सी कहानी लिखी है कहानी लिखी है कि सुना था मैंने नर्क के संबंध में कि वहां भट्टियां जलती हैं और पापी उन भट्टियों में जलाए जाते हैं लेकिन मुझे कभी बहुत डर नहीं लगा बल्कि कई दफे ऐसा भी लगा कि स्वर्ग जाना कुछ ठीक नहीं मोनोटोनस होगा ऐसे भी साधु संत मोनोटोनस होते उनके साथ रहो तो बहुत जल्दी उग जाते हैं इसलिए लोग जल्दी दर्शन करके जाते हैं दर्शन शायद इसीलिए खोजना पड़ा ताकि ज्यादा देर साथ न रहना पड़े नमस्कार और बेटा साधु संत जो है उबाने वाले हो जाते हैं असल में एक सा ही स्वर बजता रहे तो उबाने वाला हो ही जाता है पापी आदमी थोड़ा रुचिपूर्ण होता है इंटरेस्टिंग होता है सच तो यह है कि अच्छे आदमी के ऊपर कोई कहानी ही नहीं लिखी जा सकती अच्छे आदमी की कोई कहानी नहीं होती कहानी सिर्फ बुरे आदमी की होती अच्छे आदमी की असल में कोई बायोग्राफी नहीं हो बुरे आदमी की हो तो शास्त्र को ख्याल है मन में कि स्वर्ग में तो कुछ रस ना होगा वहां तो दुनिया भर के सब उगाने वाले लोग इकट्ठे हो गए और बैठे होंगे अपनी अपनी सिद्धि से लाओ पर वहां कुछ करने को भी नहीं बचा होगा नर्क देखने लायक होगा दुनिया भर के पापी जहां इकट्ठे हों वहां जिंदगी बड़ी रसपूर्ण होगी और वहां घटनाएं घटती होंगी वो फेनोमिनल ऐसी घटनाएं घटती होंगी जो कि सदियों तक लोग चर्चा करें जहां सारे पापी इकट्ठे हो गए लेकिन एक रात सपना उसने देखा कि वो नर्क में चला गया है लेकिन वहां न भट्टियां हैं न आग जल रही है न कोई सड़ाया जा रहा न कोई गलाया जा रहा बल्कि एक और दूसरी मुसीबत है जो ख्याल में ही नहीं थी वो यह है कि छोटा सा कमरा है जिसमें कोई एग्जिट नहीं है जिसमें बाहर जाने का उपाय नहीं द्वार नहीं एक छोटा कमरा है बाहर जाने का द्वार नहीं और तीन आदमी हैं और तीन आदमियों के बस खड़े रहने के लायक जगह है जरा हेलो डुलो के दूसरे से छू जाते हैं और तीनों में से कोई किसी की भाषा नहीं समझता और तीनों को साथ रहना पड़ता है प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है बस वो इतना कमरा है बस वो तीन आदमी कोई किसी की भाषा नहीं समझता जागो तो उन तीन कुतों को देखते रहो सो तो वो तुमको देखते रहे कुछ भी करो वो तीन वहां है पंद्रह मिनट बाद ही बस तीनों पागल होने लगते हैं किसी ने किसी को कुछ किया नहीं लेकिन लिविंग स्पेस नहीं बीच में जगह नहीं और जब जगह नहीं होती तो प्राइवेसी खत्म हो जाती है प्राइवेसी के लिए जगह चाहिए गरीब की सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है प्राइवेसी का अभाव भोजन नहीं कपड़ा नहीं गरीब का सबसे बड़ा दुख है कि उसकी प्राइवेट जिंदगी नहीं हो सकती वह अगर अपनी पत्नी से भी बात कर रहा हो तो भी पड़ोसी सुनता है वो अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं कर सकता बिना इसके कि उसके बेटे बेटी जान ले गरीब की सबसे बड़ी तकलीफ है कि वो अकेले में नहीं हो सकता उसकी प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है समृद्धि का एकमात्र सुख है कि आप अकेले में हो सकते हैं और दुनिया और अपने बीच स्पेस पैदा कर सकते हैं जगह पैदा कर सकते बड़ी जगह पैदा कर सकते हैं और जितनी आपके और दूसरों के बीच जगह बढ़ जाती है उतना ही चित्त शांत होता है दूसरे की मौजूदगी तनाव लाती है या आपने कभी ख्याल न किया होगा कि दूसरा कुछ भी ना करे सिर्फ मौजूद हो जाए तो तनाव शुरू हो जाता है आप रास्ते पे चले जा रहे हैं अकेले आप दूसरे आदमी होते हैं रास्ता सन्नाटा है कोई भी नहीं आप बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं हो सकता है अपने से बात कर रहे हो मौज में आ गए हो गीत गुनगुना रहे हो वो गीत जो अपने बेटे को आपने कभी नहीं गुनगुनाने दिया लेकिन दो आदमी निकल आए सड़क पर बस आप बदल सिर्फ दो आदमियों की मौजूदगी आपको तत्काल टेंस कर देती अगर बहुत ठीक से समझें तो the other is the tension वो जो दूसरा है वही तनाव है वो जो दूसरा है और वो दूसरे की मौजूदगी बढ़ती जा रही है चारों तरफ कोई ना कोई मौजूद है सब तरफ कोई ना कोई मौजूद है कहीं भी चले जाएं कोई ना कोई मौजूद है अकेले होने का कोई उपाय नहीं इससे गहरा तनाव आदमी के मन पर बैठ रहा है वो तनाव बढ़ती हुई संख्या का सबसे खतरनाक परिणाम है राजनीतिकों को उसको पता नहीं है क्योंकि उनके लिए सवाल नहीं है उनके लिए सवाल यह है कि भोजन पूरा हो जाए कपड़ा पूरा हो जाए ना हो पाए तो क्या होगा उनके लिए सवाल ये है मेरे लिए सवाल ये है कि अगर संख्या बढ़ती चली गई तो आदमी आत्मा खो देगा क्योंकि आत्मा अकेलेपन में फ्लावर होती है वो अकेलेपन में खिलती लोनलीनेस में लेकिन लोनलीनेस नहीं पहाड़ पे जाओ तो पीछे और आगे कारण लगी हुई वहां भी पहुंच जाती है बीच पर जाओ तो आपके पहले भी कार है पीछे भी कार है अमरीका का बीच देखने लायक हो गया लोग तीस तीस चालीस चालीस पचास पचास सौ सौ मील छुट्टी के दिन भागे हुए चले जा रहे हैं लेकिन गाड़ियां नेक टू नेक फंसी भाग रहे हैं कि एकांत में जा रहे हैं लेकिन बहुत लोग जा रहे हैं वहां एकांत और बीच पे पहुंचे तो लाख आदमी वहां खड़े भीड़ के बाहर होना मुश्किल हुआ जा रहा है महावीर और बुद्ध बड़े ठीक मौके पर हो गए अब होते तो पता चलता अब जिसको होना उसको पता चलता है कि क्या कठिनाई है लिविंग स्पेस नहीं बची है अकेले खड़े नहीं हो सकते अकेला होना असंभव है और जो आदमी अकेला ना हो पाए वो आदमी ठीक अर्थों में जी ही नहीं पाता वो बाहर ही बाहर घूमता रहता है कोई ना कोई मौजूद है कोई ना कोई मौजूद है सब तरफ कोई ना कोई मौजूद है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देख रहा है ये जो तनाव ये जो इनर टेंशन है इसका विस्फोट होगा नई नई शक्लों में ये डिस्ट्रक्शन बन जाएगा तो दूसरे को मिटाने की इच्छा पैदा होगी अब वो इच्छा बहुत रूप लेगी पहली बात तो वो रैशनल बनेगी बुद्धि का खोजेगी गरीब कहेगा अमीर को मिटाना क्योंकि अमीर की वजह से हम शांत नहीं हो पाते कम्युनिस्ट कहेगा कि कम्युनिस्ट विरोधी को मिटाना है इसके बिना हम जी नहीं सकते हिंदू कहेगा मुसलमान को मिटाना है मुसलमान कहेगा हिंदू को मिटाना है बहुत गहरे में हम दूसरे को मिटाना चाहते हैं जगह बनाना चाहते हैं तो गुजराती कह रहा है महाराष्ट्र को मिटाना है महाराष्ट्र कह रहा है गुजराती को मिटाना है बंगाली कह रहा है मारवाड़ी को न टकने देंगे कलकत्ते ये झगड़ा मारवाड़ी गुजराती महाराष्ट्रीयन और हिंदू और मुसलमान का नहीं है ये तो ऊपर से हमने शक्लें ली हैं झगड़े को शेप दिए हैं झगड़ा गहरे में यह है कि जगह बनानी है दूसरे को हटाना है अफ्रीकन कह रहा है गैर अफ्रीकन हटो अमरीकी कह रहा है गैर अमरीकी को न घुसने देंगे ऑस्ट्रेलियन कह रहा है बस बंद दरवाजा आप कोई भीतर ना आ सकेगा चीनी कह रहा है बंद कैसे करोगे दरवाजे हम इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हम सब दरवाजे तोड़ के घुस जाएंगे कोई चीन का कसूर नहीं है हिंदुस्तान पे हमला संख्या का भारी दबाव जैसे किसी थैले में जरूरत से ज्यादा चीजें भर दी और थैला फटने लगा और चारों तरफ चीजें गिरने लगी ऐसी चीन की हालत है सत्तर पचहत्तर अस्सी करोड़ चीन की सामर्थ्य के बाहर हो गई थैला छोटा पड़ गया आदमी ज्यादा है वो चारों तरफ गिर रहे हैं उनका कोई उपाय नहीं सारी दुनिया जिस तकलीफ में खड़ी है आज वो है कि आदमी और आदमी के बीच जगह चाहिए अगर जगह खत्म हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाए चूहों पर बहुत प्रयोग हुए हैं बड़े अद्भुत अनुभव हुए अनुभव यह है कि एक चूहे को भी रहने के लिए जगह चाहिए रहने के लिए नहीं सिर्फ दूसरे चूहे और उसके बीच में एक खास फासला चाहिए कभी कभी मिले मुलाकात हो फिर अलग हो जाए और नहीं तो कठिनाई हो जाती तो चूहों की लिविंग स्पेस को कम करके बहुत प्रयोग किए गए और पाया गया कि कितने चूहे इकट्ठे रख दिए जाएं एक कमरे में तो चूहे पागल होने शुरू हो जाए और कितने चूहे कम किए जाएं तो वो स्वस्थ होने शुरू हो जाए जंगल में जाके आपको जो अच्छा लगता है उसका कारण जंगल कम दूसरे लोगों का न होना ज्यादा है पहाड़ पर जाके आपको अच्छा लगता है उसका कारण पहाड़ कम वो दी अदर्श वो दूसरा नहीं है आंख गड़ाए हुए तो आपके कपड़ों के भीतर देख रहा है चारों तरफ चारों तरफ आंखें ही आंखें घेरे हुए वो नहीं है वहां आप हल्के हो पाते हैं आप लेट पाते हैं जो आपको करना होता है कर पाते हैं वो असंभव हुआ जा रहा है मनुष्य का मन मरने के पहले बिल्कुल पागल हो जाएगा अगर इस पृथ्वी पर संख्या बढ़ती चली गई कोई उपाय काम ना आया और अभी जो हम उपाय कर रहे हैं वो उनसे कोई आशा नहीं बनती वे बहुत ही कमजोर उपाय हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई समुद्र को खाली कर रहा हो छोटे से बर्तन में भर भर के गिलास में भर भर के खाली कर रहा हो मामला बहुत बड़ा है और सरकारें जो भी कर रही हैं वो बहुत छोटा है उससे कुछ हल होने वाला नहीं बहुत कठिनाई है उससे कुछ हल होने वाला नहीं क्योंकि वो हम हल करते हैं वो इतना छोटा है और जब तक हम हल कर पाते हैं दस पांच लाख लोगों को पैदा होने से रोकते हैं तब तक करोड़ लोग पैदा हो चुके वो इतने विस्तार पर प्रश्न है इसके पहले कि दुनिया समाप्त हो भीड़ से भीड़ पागल होगी पागल होना शुरू हो गई है आज ठीक ठीक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी का सर्टिफिकेट किसी को भी देना मुश्किल ज्यादा से ज्यादा इतनी कह सकते हैं कि ये आदमी अभी पागल नहीं हुआ है ये नहीं कह सकते कि आदमी ठीक डिग्री का फर्क रह गया पागल में और सब में क्वांटिटी का फर्क है क्वालिटी का नहीं ऐसा ही है कि कोई निन्यानबे डिग्री पे उबल रहा है कोई अंठानबे डिग्री पे उबल रहा है कोई पंचानबे डिग्री पे उबल रहा है कोई सौ डिग्री पे जाकर छलांग अच्छा लगा गया और पागल खाने के भीतर आप निन्यानबे डिग्री पे तो आप कह रहे हैं बेचारा और आपको पता नहीं कि निन्यानबे डिग्री किसी भी समय सौ डिग्री हो सकती विलियम जेम्स अपनी जिंदगी में एक दफा पागल खाने देखने गया फिर दोबारा गया नहीं क्योंकि पागल खाने में देख के उस बुद्धिमान आदमी को जो ख्याल आया वो ये था कि ये सारे लोग पागल हो गए उसमें उसको कोई परिचित मित्र भी था जो कल तक बिल्कुल ठीक था लौट के घर वो बिस्तर पर लग गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत डर गया उसकी पत्नी ने कहा क्या हो गया तुम उसने कहा कि कल तक जो ठीक था वो आज पागल हो गया मैं आज तक ठीक हूं कल का क्या भरोसा है और अपने को मैं ये नहीं समझा सकता कि वो बेचारा पागल हो गया क्योंकि कल तक वो भी अपने को समझाता रहा था कि कोई दूसरा बेचारा पागल हो गया नहीं मैं डर गया हूं क्योंकि मेरे भीतर वो सब मौजूद मुझे मालूम पड़ता है जो विस्फोट हो जाए तो मैं पागल हो जाऊं हम सबके भीतर वो मौजूद है कभी एकांत कोने में चले जाएं कमरे के घर के द्वार बंद कर लें कागज पर जो भी मन में चलता हो लिख डालें दस मिनट ईमानदारी से किसी को बताना नहीं है नहीं तो ईमानदारी ना बरत पाएंगे वो दूसरा आया कि आप बेईमान हुए वो चाहे दूसरा आपकी पत्नी ही क्यों ना हो आपका बेटा ही क्यों ना हो दूसरे के सामने ईमानदार होना बहुत कठिन परीक्षा है अपने ही सामने ईमानदार होना बहुत कठिन मामला है दस मिनट दरवाजे पर ताला लगा लेना और लिखना जो भी मन में चल रहा हो दस मिनट जो भी उसमें कुछ हेर फेर मत करना तो दस मिनट के बाद उस कागज को आप किसी को दिखा ना सकेंगे और अगर दिखाएंगे तो कोई भी कहेगा किस पागल ने लिखी है ये किसके दिमाग से निकली और आप खुद ही हैरान होंगे कि ये सब मेरे भीतर चल रहा है चारों तरफ तनाव गिर गया है इस तनाव के बहुत परिणाम है पहला परिणाम तो यह हुआ है कि सब तरफ कलह है विग्रह है कॉन्फ्लिक्ट है वर्ग के नाम से धर्म के नाम से संप्रदाय के जाति के भाषा के इस सब के बहुत बहुत गहरे में मानसिक कलह हमारे भीतर है वो फैल रही है और वो बढ़ती जाएगी संख्या बढ़ेगी और वो बढ़ेगी क्योंकि आदमी को भी जीने के लिए जगह चाहिए वो जीने की जगह उसकी छिन गई है हमने मौत रोक दी और जन्म को रोकने को हम तैयार नहीं है ये जो ये जो कलह है ये रोज युद्धों की शक्ल में भपकेगी फूटेगी हमने अगर हाइड्रोजन और एटम बना लिया है तो आकस्मिक नहीं है ये असल में इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता और इस जगत में जो होता है उसके भीतर बहुत गहरे नियम काम करते हैं जैसे उदाहरण के लिए अभी बड़े मजे की बात है ना कि दुनिया में स्त्री पुरुषों की संख्या करीब करीब बराबर रहती है बड़े मजे की बात है इसको कौन इंसान कर रहा है बड़ी दुनिया है इसमें कभी ऐसा नहीं हो जाता कि एकदम पुरुष ही पुरुष बहुत हो जाए स्त्री स्त्री ही बहुत हो जाए 116 लड़के पैदा होते हैं और 100 लड़कियां पैदा होती और 116 लड़के भी बड़ी व्यवस्था से पैदा होते हैं क्योंकि सेक्सुअली मैच्योर होने के पहले तक 16 लड़के मर जाते हैं और संख्या बराबर हो जाती है असल में लड़का कमजोर है लड़की से लड़की का रेसिस्टेंस ज्यादा है औरतों की प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है वे बीमारी को ज्यादा झेल सकती हैं कष्ट को ज्यादा झेल सकती हैं परेशानी को ज्यादा झेल सकती हैं और टूटने से बच सकती हैं पुरुष की क्षमता रेसिस्टेंस की कम इसलिए प्रकृति 116 लड़के पैदा करती है और 100 लड़कियां पैदा करती है लड़कियां बच जाती हैं सोलह लड़के इस बीच डूब जाते हैं संख्या चौदह पंद्रह वर्ष की उम्र होते होते तक बराबर हो जाते ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई इनर सूत्र काम करते हैं जिंदगी में आदमी ने उन भीतरी सूत्रों पर कई तरफ से हमला कर दिया है और इसलिए बहुत इनर बैलेंस को बिगाड़ दिया है तो हमने मृत्यु पे तो हमला बोल दिया बीमारी नहीं होने देंगे प्लेग नहीं होने देंगे महामारी नहीं आने देंगे मलेरिया नहीं होने देंगे मच्छर को नहीं बचने देंगे हमने सब इंतजाम कर दिया उधर से मरने की तरफ हमला बोल दिया इधर जन्म की तरफ से जो धारा चल रही है वो धारा उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से मलेरिया का मच्छर होता तब चलनी चाहिए थी प्लेग होती महामारी होती तब चलनी चाहिए थी काला ज्वर होता तब चलनी चाहिए थी वो प्रकृति को प्रकृति अपने ही अनुशासन से काम करती है वो अनुशासन उसका चल रहा है भीतर ना कोई चिंता ना करें आप बैठे रहें वो अनुशासन भीतर चल रहा है और हमने अनुशासन का एक छोर बदल दिया इसलिए मैं संतति नियमन के अत्यंत पक्ष में हूं दूसरा छोर हमें बदलना पड़ेगा मौत को अगर हमने छुआ है तो जन्म को छूना पड़ेगा अब जन्म को प्रकृति के अंधे हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता लेकिन इस संबंध में भी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा मेरे लिए ये सवाल भोजन कपड़े लत्ते का कम मेरे लिए ये सवाल मनुष्य के आत्मिक विकास का ज्यादा है मेरे लिए सवाल यह कि अगर पूरी मनुष्यता को पागल होने से बचाना है तो संतति पर नियमन करना पड़ेगा परिवार नियोजन को गति देनी पड़ेगी और गति जैसी हम दे रहे हैं वैसा नहीं चलेगा क्योंकि उसके भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं जो हम कर रहे हैं अभी इसके पहले कि मैं उस संबंध में कुछ कहूं मैं आपसे ये भी कह दूं कि जैसे मैंने कहा कि प्रकृति का एक भीतरी इंतजाम चलता है वो अंधा है तो जब भी हम इस तरह की स्थिति पैदा कर लेते हैं तब फिर उस स्थिति को मिटाने के लिए भीतरी बैलेंस की शक्तियों को काम में लग जाना पड़ता है इसलिए एक तरफ हम मौत को धक्का देके हटा दिए और दूसरी तरफ सामूहिक मौत को निमंत्रण देके बुला रहे हैं वो तीसरा महायुद्ध तो सामने खड़ा है मुझे लगता है कि अगर संख्या बढ़ती गई तो तीसरे महायुद्ध को रोका नहीं जा सकता अगर तीसरा महायुद्ध रोकना हो तो संख्या दुनिया के एकदम नीचे गिरानी जरूरी है नहीं तो तीसरा महायुद्ध होगा और तीसरा महायुद्ध साधारण युद्ध नहीं जैसे पहले हुए तीसरा महायुद्ध अंतिम युद्ध है आइंस्टीन से मरने के पहले किसी ने पूछा था कि तीसरे महायुद्ध के संबंध में कुछ बताएं आइंस्टीन ने कहा तीसरे के बाबत कुछ नहीं बताया जा सकता लेकिन चौथे के संबंध में कुछ पूछते हो तो मैं बता सकता हूं आदमी ने कहा तीसरे के बाबत नहीं बता सकते तो चौथे के बाबत आइंस्टीन ने कहा चौथे के बाबत एक बात निश्चित है कि चौथा कभी नहीं होगा क्योंकि तीसरे के बाद आदमी के बचने की उम्मीद ही नहीं तो चौथा ही तो करेगा कौन इसलिए चौथे के बाबत निश्चित वक्तव्य उसने दिया कि चौथे के बाबत एक बात निश्चित लेकिन तीसरे में सबके विनाश की संभावना बढ़ती चली जाती है इधर आदमी पागल हो रहा है इधर उसके तनाव बढ़ रहे इधर वो मरने मारने को दूसरे को मिटाने को नए नए सिद्धांत खोज रहा कभी फैसिज्म कभी कम्युनिज्म कभी कुछ कभी कुछ दूसरे को कैसे मारो काटो और अच्छे सिद्धांतों की आड़ों में काटना आसान हो जाता है इसलिए दुनिया में जो बहुत अद्भुत किस्म के पागल हैं वो हमेशा आइडियोलॉजिस्ट पागल होते हैं साधारण पागल तो पागल खानों में बंद है असाधारण पागल कभी स्टेलिन हो जाता है कभी हिटलर हो जाता है कभी माओ हो जाता है ऊपर छाती पे बैठ जाता सिद्धांत पकड़ लेता और सिद्धांत की आड़ में जब वो पागलपन का खेल करता है तो हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कर रहा है हिटलर ने अकेले हिटलर ने कोई साठ लाख लोगों की हत्या की जर्मनी अकेले स्टेलिन ने कोई अंदाजन करोड़ लोगों की हत्या की रूस लेकिन कोई हत्यारा ना कहेगा स्टेलिन को ये मजा है सिद्धांत के साथ ये मजा है सिद्धांत के साथ करोड़ आदमियों को मारने वाला हत्यारा नहीं और आप एक आदमी को मारने तो आप हत्यारे लेकिन वो करोड़ आदमियों को सिद्धांत से मारता है उनके ही हित में उनको ही मारता है वो कहता है हम तुम्हारी ही सेवा कर रहे हैं सिद्धांत का बड़ा तख्ता फिर सब ठीक हो जाता है मारा जा सकता है तीसरा महायुद्ध अनिवार्य हो जाएगा अगर संख्या नहीं रुकती है दस सालों में तो 1980 के बाद पार होना बहुत मुश्किल है तीसरा महायुद्ध तो अनिवार्य हो जाएगा वही उपाय रहेगा इनर बैलेंस का लेकिन वो बैलेंस बड़ा महंगा पड़ने वाला है उसमें सब मिट जाने की संभावना है और इसलिए मैं एक और आपको सूचना दूं कि मेरी नजर में चांद पर जाने की जो इतनी तीव्र आकांक्षा मनुष्य को पैदा हुई है उसका आज कोई कारण नहीं है आज लेकिन उसके कारण को अगर हम गहरे मनुष्य की चेतना में खोजने जाएं तो मुझे वो इनर बैलेंस फिर वापस ख्याल में आता है अब पृथ्वी शायद आने वाले पचास वर्षों में रहने योग जगह न रह जाएगी आदमी को हमें किसी दूसरे ग्रह पर बचाने का उपाय करना पड़ेगा पुरानी कहानी आपने सुनी होगी ईसाइयों की नोहित महाप्रलय हुई और सारे लोग मर गए और परमात्मा ने नो से कहा कि नाव तू संभाल और एक एक प्राणी जाति के एक एक जोड़े को इसमें बचा ले और ये नाव को ले जा उस जगह जहां की प्रलय नहीं है वहां इतने लोगों को बचा ले ताकि फिर से सृष्टि हो सके नोए की कहानी सच है या झूठ कहना मुश्किल वैसे झूठ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि नोह की कहानी दुनिया की समस्त जातियों में अलग अलग रूपों में प्रचलित है जब दुनिया इकट्ठी नहीं थी और कोई एक दूसरे को नहीं जानता था तब भी वो कहानी प्रचलित है महाप्रलय की कि कभी महाप्रलय हुई जब सब डूब गया और सिर्फ स्पेसिमेन बचाए जा सके एक आदमी एक औरत एक गधा एक गधी एक बंदर एक बंदरी इस तरह स्पेसिमेन बचा के और फिर सब कार्य शुरू करना पड़ा इसकी संभावना बढ़ती जाती है कि अगर तीसरा महायुद्ध पृथ्वी पे होता है तो पृथ्वी पे बचने की तो कोई उपाय नहीं होगा कुछ लोगों को पृथ्वी के बाहर ले जाना पड़ेगा मगर ये सब जरूरी नहीं है ये सब रोका जा सकता है रोकने का क्रम वहां है जहां संतति हम पैदा कर रहे हैं लेकिन हम वैकल्पिक रूप से रोक रहे हैं हम वॉलेंटरी रोकने के लिए लोगों से कह रहे हैं समझा रहे हैं स्वेच्छा से समझ जाओ नहीं स्वेच्छा से समझने का मामला नहीं है ये ये कंपलसरी हो तो ही संभव हो सकता है अनिवार्य हो वैकल्पिक नहीं ऐच्छिक नहीं ऐसा नहीं कि हम आपको समझा रहे हैं कि आप दो या तीन बच्चे या भी लगाने से खतरा है या बिल्कुल नहीं चाहिए बीच में क्योंकि या का कोई अंत नहीं है दो बच्चे यानी दो बच्चे तीसरा बच्चा यानी नहीं और ये नहीं आपकी इच्छा पर छोड़ी गई तो हल होने वाला नहीं है क्योंकि आदमी की चेतना इतनी कम है कि उसे पता ही नहीं कि कितनी बड़ी समस्या है ये उस पर नहीं छोड़ा जा सकता ये अनिवार्य करना होगा इसे इतनी बड़ी अनिवार्यता देनी होगी जैसे इमरजेंसी की अनिवार्यता होती है इससे बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं है और वैकल्पिक स्वेच्छा से वॉलंटरी जो हम करवा रहे हैं उसका नुकसान भी बहुत उसका नुकसान बहुत गहरा है बड़ा मजा यह है कि जब हम स्वेच्छा से लोगों को समझाते हैं तो जो समझदार वर्ग है वो समझ जाता है और जो ना समझ वर्ग है वो नहीं समझता तो समझदार वर्ग अपने बच्चे कम कर लेगा और ना समझदार वर्ग अपने बच्चे बढ़ा देगा उसका बैलेंस मेरिट का और बुद्धि का भयंकर नुकसान होगा आमतौर से वैसे भी समझदार आदमी जिम्मेवार नहीं है बच्चे बढ़ाने में आमतौर से ही जो सुशिक्षित है सोच विचार वाला है और जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो दुनिया की फिक्र भला ना करता हो लेकिन उसके घर में एक रेडियो चाहिए रेडियोग्राम चाहिए या टीवी चाहिए या कार चाहिए तो उसे बच्चे रोकने पड़ते हैं तो जो थोड़ा सा भी सोच विचार करता है अपना ही सिर्फ वो बच्चे नहीं बढ़ाता इसलिए फ्रांस अकेला मुल्क है जहां जनसंख्या गिर रही है मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का सबूत दिया है अकेला मुल्क है जहां जनसंख्या गिर रही है जहां की सरकार पोस्टर लगाती है कि भाई जनसंख्या थोड़ी बढ़ाओ क्योंकि डर यह है कि दूसरों की संख्या बहुत हो जाए और फ्रांस की संख्या कम हो जाए तो फ्रांस में स्पेस बन जाए तो चारों तरफ से लोग भीतर प्रवेश कर जाएंगे फ्रांस रोक नहीं सकेगा बुद्धिमान मुल्कों की संख्या ठहर गई है स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो नॉर्वे हो या बेल्जियम हो वो ठहर गए यूरोप की संख्या ठहरने के करीब पहुंच गई है एशिया विक्षिप्त हुआ जा रहा है इसलिए पश्चिम को सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए वो अगर बर्थ कंट्रोल के साधन मुफ्त भेज रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ परोकार है पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि एशिया उसको डुबा देगा कीड़े मकोड़ों की तरह सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त पश्चिम को एक तो उसने संपन्नता पाली है समृद्धि पाली है सभ्यता पाली है हजारों हजारों साल के मनुष्य के सपने आज जब करीब होने आए हैं पूरे तब एशिया इतने बच्चे पैदा कर रहा है वो सारी दुनिया को दबा डालेंगे ये बैरियर ज्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे राष्ट्रों की सीमाओं और न वीसा और पासपोर्ट ज्यादा दिन रोकेंगे संख्या जैसे ही सीमा के बाहर होगी कोई नियम काम नहीं करेगा लोग एक दूसरे मुल्कों में प्रवेश कर जाएंगे और जहां जगह होगी वहां हावी हो जाएंगे क्योंकि मरता क्या न करता तो मरने के लिए कोई अगर मरना ही है तो फिर कोई पुलिस नहीं रोक सकती कोई बैरियर नहीं रोक सकता एशिया सबसे बड़ा खतरा हो गया सारी जगत के लिए इसलिए सारा जगत चिंतित है सहायता पहुंचाता है बर्थ कंट्रोल की एड्स लो पिल्स लो सारा इंतजाम करो हम तैयार हैं आपकी सेवा में लेकिन कृपा करके आप बच्चे पैदा मत करो आप अपने लिए तो खतरा हो ही आप सारी दुनिया की सुविधा के लिए भी खतरा हो लेकिन अगर इसे हमने स्वेच्छा पर छोड़ा तो हम नुकसान में पड़े समझदार आदमी बच्चे पैदा करता ही नहीं कम करता है आमतौर से समझदार आदमी बच्चे कम पैदा करता है अगर समझदारी लोग हो तो संख्या थोड़ी कम होगी हर हर पीढ़ी के बाद लेकिन गैर समझदार बच्चे बहुत जोर से पैदा करता है वो समझ लेना जरूरी कि वो क्यों करता है गैर समझदार बच्चे इतने ज्यादा क्यों पैदा करता है एक मजदूर या एक किसान इतने बच्चे क्यों पैदा करता है इसके दो कारण एक तो समझदार आदमी सेक्स के अतिरिक्त कुछ और सुख भी खोज लेता है जो गैर समझदार नहीं खोज पाता संगीत है साहित्य है धर्म है ध्यान है कुछ और रास्ते भी खोज लेता है जहां से उसे आनंद मिल सकता है वो जो गैर समझदार है उसके लिए आनंद सिर्फ एक है वो सेक्स से संबंधित है वो आनंद और कहीं भी नहीं है ना वो एक रात उपन्यास पढ़ के बिता सकता है कि इतना डूब जाए कि पत्नी को भूल सके न वो एक दिन ध्यान में प्रवेश कर पाए न वो बांसुरी न उसे कोई रस नहीं उसका उसका चित्त उस जगह नहीं आया जहां कि आदमी यौन के ऊपर सुख खोज लेता है जितने आदमी यौन के ऊपर सुख खोज लेते हैं उनकी यौन की भूख निरंतर कम होती चली जाती अगर वैज्ञानिक अविवाहित रह जाते हैं तो कोई ब्रह्मचर्य साधने के कारण नहीं या संत अविवाहित रह जाते हैं तो कोई ब्रह्मचरी साधने की वजह से नहीं कुल कारण इतना है कि उनके जीवन में आनंद के नए द्वार खुल जाते हैं वे इतने बड़े आनंद में उड़ने लगते हैं कि यौन का आनंद अर्थहीन हो जाता है गरीब के पास अशिक्षित के पास ग्रामीण के पास श्रमिक के पास और कोई मनोरंजन नहीं इसलिए जिन मुल्कों में मनोरंजन की जितनी कमी है उन मुल्कों में संख्या उतनी तेजी से बढ़ेगी उसके पास एक ही मनोरंजन है वो जो प्रकृति ने उसे दिया है मनुष्य निर्मित कोई मनोरंजन उसके पास नहीं लेकिन ये सुनेगा नहीं क्योंकि ये सुनने की स्थिति में भी नहीं ये बच्चे पैदा करता चला जाएगा और समझदार वर्ग सुन लेगा और चुप हो जाएगा बच्चे पैदा नहीं करेगा तो वैसे ही जिन मुल्कों की प्रतिभा कम है वो और कम हो जाएगी सौंदर्य कम हो जाएगा स्वास्थ्य कम हो जाएगा प्रतिभा कम हो जाएगी इसलिए मैं वॉलेंटरी बर्थ कंट्रोल के सख्त खिलाफ बर्थ कंट्रोल के पक्ष में संतति नियमन के सख्त पक्ष में हूं लेकिन स्वेच्छा से संतति नियमन के सख्त खिलाफ संतति नियमन चाहिए अनिवार्य है कंपलसरी तो ही अर्थपूर्ण हो सकता है और तुमुल तो की प्रतिभा को गति दी जा सकती और इसके लिए कितने और पैमाने उपयोग करने चाहिए वो मैं दो चार बात करूं एक तो मेरी दृष्टि में संतति नियमन और बहुत से इम्प्लीकेशंस लिए हुए और बहुत अंतर्गर्भित संबंध हैं उसके असल में गरीब आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करने में उत्सुक होता है क्योंकि गरीब आदमी के लिए ज्यादा बच्चे मुसीबत नहीं लाते सुविधा लाते अमीर आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करने में उत्सुक नहीं रहता क्योंकि ज्यादा बच्चे उसे सुविधा नहीं लाते असुविधा लाते अगर मेरे पास लाख रुपए हैं और मैं दस बच्चों को पैदा करूं तो दस दस हजार बढ़ जाएंगे मैं लखपति न रह जाऊंगा लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं दस बच्चे पैदा करूं तो दस बच्चे आठ आठ आने लाते कम से कम शान मुझे दे तो जब तक हम गरीब को वो जो नीचे बड़ी वृहत जनसमूह है उसको भी ऐसी व्यवस्था न दे सकें कि बच्चे बढ़ना उसके लिए असुविधा का कारण हो जाए तब तक वो सुनने वाला नहीं लेकिन अभी हमारी बड़ी अजीब स्थिति है हमारा मुल्क तो कंट्राडिक्शन का है कोई हिसाब ही नहीं हमारे मुल्क के विरोधाभासों का इधर हम सारे मुल्क को समझाते हैं कि बच्चे कम पैदा करो उधर जिसके बच्चे ज्यादा हैं उस पर टैक्स कम लगाते हैं जिसके बच्चे कम हो उस पर टैक्स ज्यादा लगाते उधर इधर समझाते हैं बच्चे नहीं उधर अविवाहित पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं विवाहित पर कम टैक्स लगाते हैं पागलपन की दुनिया हो सकती है कोई तो इस मुल्क में अगर बच्चे पैदा करने कम करने हैं तो विवाहित पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा और अविवाहित को सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो ज्यादा देर तक अविवाहित रह जाए ज्यादा बच्चों पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा बहुत उल्टा मालूम पड़ेगा क्योंकि हम सोचते हैं ज्यादा बच्चे बेचारे को सहायता पहुंचाओ ज्यादा बच्चों पर टैक्स ज्यादा लगाना पड़ेगा हर नया बच्चा ज्यादा टैक्स घर में लाए तो बच्चे को लाने में डर शुरू होगा लेकिन हर बच्चा घर में टैक्स कम करे तो लाना अच्छा ही है इस वक्त जिनके घर में ज्यादा बच्चे हैं वो बड़े फायदे में वो पार्टनरशिप बना लेते हैं सबके टैक्स कम कर लेते हैं एक और हम चाहते हैं कम हो जाएं और दूसरी ओर जो भी हम कर रहे हैं वो पचास साल पुराने नियम है जबकि ज्यादा होने में कोई खतरा ना था अनिवार्य चाहिए और जीवन के सब पहलुओं पर ध्यान लेना चाहिए कि कहां कहां बच्चों को रोकने में क्या क्या करना पड़ेगा वहां सारी फिक्र कर लेनी चाहिए दूसरी बात ये जो हमने जो अब तक जो जगत था और अब जो नहीं हो सकेगा उस जगत से बहुत सी नैतिकताएं बहुत से सिद्धांत हम लेकर आए जो कि होने वाले जगत में बाधा बनेंगे उन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा उनके साथ तालमेल नहीं हो सकता अब जैसे गांधी जी खिलाफ थे संतति नीमन के और उन्होंने जिंदगी में जितनी गलत बातें कही उसमें ये सबसे ज्यादा गलत बात है वो संतति नीमन के खिलाफ थे वो कहते थे बर्थ कंट्रोल से अनिति बढ़ जाएगी उनको इसकी फिक्र नहीं है कि बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ तो मनुष्यता मर जाएगी उनको फिक्र इसकी है कि बर्थ कंट्रोल से कहीं अनिति ना बढ़ जाए कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुंवारी लड़की किसी लड़के से संबंध रखे और पता न चल पाए पता चलाने की किसी को जरूरत क्या है ये पीपिन टाम की प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक पता चलाने की जरूरत क्या है ये अनैतिक है ये पता चलाने की इच्छा ही पड़ोस की लड़की का किससे क्या संबंध है अगर कोई आदमी उसमें उत्सुक होकर पता लगाता फिर रहा है तो यह आदमी अनैतिक है अनैतिक इसलिए कि दूसरे के आदमी की जिंदगी में तनाव पैदा करने की कोशिश में लगा है इससे प्रयोजन क्या है लेकिन पुराना सब नीतिवादी इसमें उत्सुक था कि कौन क्या कर रहा है वो सबके आसपास घरों के घूमता रहता है पुराना महात्मा जो है वो हर आदमी का पता लगाता रहता कौन क्या कर रहा है मनुष्यता मर जाए इसकी फिक्र नहीं महात्मा को इस बात की फिक्र है कि कहीं कोई अनिति ना हो जाए हालांकि महात्मा की फिक्र से अनिति रुकी नहीं है गांधी जी के आश्रम में भी वही होता जो कहीं भी हो रहा है होता था होगा ही ठीक गांधी जी की आंख के नीचे वही होगा उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जिसे हम अनिति कह रहे हैं अगर वो स्वभाव के विपरीत है तो स्वभाव बचेगा और अनिति नहीं बचेगी और अनिति क्या है कभी हमने नहीं सोचा कि एक स्त्री को दस बच्चे पैदा होते तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती उसको हमने अनिति नहीं माना हमने तो कहा कि स्त्री का तो काम ही मां होना है मां होने का मतलब हमने समझा कि मां होने की फैक्ट्री होना है तो एक फैक्ट्री का काम हमने लिया अगर हम पुरानी स्त्री की आज से चालीस साल पहले और आज भी गांव में स्त्री की जिंदगी एक फैक्ट्री की जिंदगी है जो हर साल एक बच्चा दे जाती है और फिर दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाती जो हम मुर्गी के साथ कर रहे हैं वो हम स्त्री के साथ भी किए लेकिन यह अनिति नहीं थी एक आदमी अगर 20 बच्चे अपनी पत्नी से पैदा करे तो दुनिया का कोई भी ग्रंथ हो कोई महात्मा नहीं कहता कि यह आदमी अनैतिक यह आदमी अनैतिक है इसने एक स्त्री की हत्या कर दी उसके व्यक्तित्व में कुछ ना बचा वो सिर्फ एक फैक्ट्री रह गई लेकिन यह अनैतिक नहीं है ये अनैतिक नहीं है अनैतिक हमने मालूम क्या किस चीज को बनाए हुए और वो समझाएंगे गांधी जी विनोबा जी वो कहेंगे कि नहीं ब्रह्मचरी साधो अभी पांच हजार साल से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हैं और इनके ब्रह्मचर्य की शिक्षा वो अभी दी जाते हैं वो कहते हैं संतति नहीं मन नहीं हाँ ब्रह्मचरी साधो और वो ब्रह्मचरी कोई एक आध साधता हो साथ लेता हो तो भी वो कोई मेजर नहीं उससे कुछ होने वाला नहीं ये प्रश्न इतना बड़ा है ये प्रश्न इतना बड़ा है कि इस प्रश्न को ब्रह्मचर्य चालने की पर पांच हजार साल सबूत गवाही है कि पांच हजार साल के शिक्षक समझा समझा के मर गए कितने ब्रह्मचारी तुम पैदा कर पाए गांधी जी भी चालीस पचास साल मेहनत किए कितने ब्रह्मचारी पैदा कर गए सच तो यह है कि खुद के ब्रह्मचर्य पे भी उन्हें कभी भरोसा नहीं था आखिरी वक्त तक भरोसा नहीं था कहते थे जागते में तो मेरा काबू हो गया है लेकिन नींद में लौट आता है तो लौट ही आएगा जागने में जो काबू करेगा उसका लौटेगा ही उसमें और कोई कसूर नहीं कसूर खुद का है दिन भर संभाले हैं तो नींद में संभालना शिथिल हो जाता है तो नींद में जो दिन भर नहीं किया वो नींद में करना पड़ता है और नींद में करने से दिन में करना बेहतर है कम से कम नींद तो खराब नहीं होती ब्रह्मचरी से चाहते हैं कि संख्या का अवरोध हो जाए नहीं होगा साधु संत ये भी समझा रहे हैं कि तुम हकदार नहीं हो परमात्मा बच्चे भेजता है तुम रोकने के हकदार नहीं और यही साधु संत अस्पताल चलाते हैं परमात्मा बीमारी भेजता है उसको क्यों रोकता और परमात्मा मौत भेजता है तो अस्पताल क्यों मारते अभी तो आज मैं निकल रहा था एक अस्पताल देखा आयुर्वेदिक कोई स्वामी का नाम लिखा फला फला स्वामी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो स्वामी अस्पताल किस लिए खोल रहा है आयुर्वेदिक ढंग से मरने के लिए लोगों को मरने के ढंग भी होते हैं कोई एलोपैथिक ढंग से मरता है कोई आयुर्वेदिक ढंग से कोई होम्योपैथिक ढंग से भी मरने के शौकीन होते इसलिए खोला ये अस्पताल निश्चित बचाने के लिए खोला होगा लोगों को तो अगर बच्चे परमात्मा भेज रहा है तो मौत कौन भेज रहा है तो मौत से लड़ने को वैज्ञानिक और बच्चे पैदा करवाने को परमात्मा आशीर्वाद ये महात्मा आशीर्वाद देते रहेंगे ये सब क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं अगर जन्म पर रोक लगाने में परमात्मा का विरोध है तो फिर सब अस्पताल बंद फिर मौत पे भी रोक नहीं लगानी चाहिए तो फिर बैलेंस अपने आप हो जाएगा फिर कोई तकलीफ ना होगी लेकिन बड़ा आश्चर्य इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा मुल्क बड़े कंट्राडिक्शन में जीता है नहीं जो मौत के साथ किया है वो जन्म के साथ करना पड़ेगा और नहीं करना तो दोनों के साथ मत करो फिर मच्छर पलने दो मलेरिया फैलने दो फिर सब ठीक हो जाएगा फिर कोई बर्थ कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन उसकी जरूरत इसलिए पड़ी प्रकृति तो अपना इंतजाम कर लेती थी आदमी ने एक कोने से रुकावट डाल दी अब दूसरे कोने पर रुकावट डालते हैं तो वो कहते हैं परमात्मा आड़े आता है परमात्मा बिल्कुल आड़े नहीं आता लेकिन महात्मा सदा परमात्मा के नाम से बहुत जिंदगी की जरूरी चीजों में आड़े आते रहे उनका बल जरूर है उनका बल है अंधे आदमी को उनका बल स्वाभाविक है और जब वो अंधा बल अंधे आदमी की उसकी ही मनोवृत्ति का सहयोग देता है तब तो बहुत सारा मिल जाता है तो वो कहता है बिल्कुल ठीक हम बच्चे रोकने वाले कौन मुझे एक छोटी सी कहानी आती है वो मैं कहूं और बात पूरी करूं मैंने बंगाली में एक उपन्यास है उस उपन्यास में एक परिवार बद्री केदार की यात्रा को गया है बंगाली गृहिणी उसका परिवार है बंगाली गृहिणी भक्त है एक सन्यासी भी रास्ते में सांस हो लिया है बंगाली गृहिणी खाना बनाती तो पहले सन्यासी को खिलाती फिर पति को स्वभावता मेहमान भी है सन्यासी भी है और जो जो अच्छा है पहले सन्यासी को रास्ते का मामला है सन्यासी इतना खा जाता है कि बाकी के लिए फिर समझो बचा खोचा ही रह जाता है पति बहुत परेशान है असल में पति और पत्नी के बीच अगर सन्यासी खड़ा हो जाए तो पति सदा ही परेशान हो जाता है उसकी समझ में भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है और पत्नी की दहशत की वजह से कह भी नहीं सकता कि क्या हो रहा है सब मंदिर पति चला रहे हैं वाया पत्नी सब साधु संत पति पाल रहे हैं वाया पत्नी पत्नी वहां जा रही है तो वो सब पल रहा है वो सन्यासी सब खा जाता है फिर पीछे से कोई यात्री आया है और संदेश लाया है बंगाली मिठाई लाया है पति बहुत डरा हुआ है वो बड़ा शौकीन है संदेश का वो कहता है कि बचेगी थोड़ी वो तो सन्यासी सब पहले साफ कर जाए दूसरे दिन वो बड़ा भयभीत है संदेश रखे गए सन्यासी सब साफ कर गया उसने तो रोटी आज रहने दो वो सब संदेश खा गया पति को इतना इतना मुश्किल हुई कि एक संदेश भी नहीं बचा तो उसने सन्यासी से कहा आप हम पे ख्याल ना करें तो कम से कम अपने पे तो ख्याल करें उस सन्यासी ने कहा कि तू नाचते अरे जिसने पेट दिया वही ख्याल करेगा हम परमात्मा के बीच में बाधा नहीं आ रहे सन्यासी ने कहा जिसने पेट दिया वही ख्याल भी करेगा हम बीच में बाधा डालने वाले कौन संदेश सन्यासी डालेगा संदेश सन्यासी डालेगा बाधा नहीं डालेगा वो परमात्मा तो छोड़ देगा आदमी की बेईमानी बहुत पुरानी है इस मामले में बहुत महंगी पड़ेगी जनसंख्या के मामले में बहुत महंगी पड़ेगी साफ समझ लेना जरूरी है कि बच्चे रोकना ही पड़ेंगे अगर पूरी मनुष्यता को बचाना है अन्यथा आपके बढ़ते बच्चों के साथ पूरी मनुष्यता का अंत हो सकता है ये मैंने थोड़ी सी बातें कही ये सवाल तो बहुत बड़ा है और इसके बहुत पहलू इसको सोचना है मेरी बात को मान लेने की कोई जरूरत नहीं है न तो मैं कोई गुरु हूं न कोई महात्मा हूं और न परमात्मा की तरफ से कोई सर्टिफिकेट लेके आया हूं जो कहता हूं वो सही है जैसा एक सामान्य आदमी अपनी बात कहता है वैसा एक लेमैन जो निवेदन भर कर सकता है आग्रह नहीं कर सकता जो ये नहीं कह सकता कि यही सत्य है जो इतना ही कह सकता है कि ऐसा मुझे दिखा बातें मैंने आपसे कही आप सोचना शायद कोई बात आपके विचार से ठीक मालूम पड़े तो वो आपकी हो जाएगी फिर वो मेरी नहीं है फिर उसमें मेरा कोई जुम्मा नहीं वो आपकी और आप जुम्मेवार है और अगर कोई बात ठीक ना दिखाई पड़े तो क्षण भर भी मोह मत करना उसे बिल्कुल फेंक देना बहुत मोह हो चुका है तो गलत बातों की भीड़ इकट्ठी हो गई सिर्फ उस कचरे को एकदम फेंक देना जो मेरी बात गलत दिखाई पड़े उसे एक मिनट भीतर मत रखना